अगर जल्दी मिलने वाला माल और दरमियाना सफ़र होता तो वो ज़रूर आपके पीछे जाते लेकिन मसाफत उन्हें दूर मालूम हुई और अन करीब वो अल्लाह ताला की कस्में खाएंगे कि अगर हम इस्तात रखते तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते वो अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह ताला जानता है कि वो लोग बिलाशुबा ज़रूर झूठे हैं